और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से नजात दी जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे तुम्हारे बेटों को जिबाह कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे और इस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था